وأتوب إليه آمين ثم آمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله अल्लाह रब्लमीन हम सब का यहाँ पर जमा होना कबूल मंजूर फरमाए और नूर कुरान पाक से हम सब के कलूब को रोशन मनवर फरमाए इस तहफ़ ईमान नशिश के सदक़े में रब्लमीन हम सब के ईमान को तहफ़ अता फरमाए हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए क्योंकि गुनाह करने से ईमान कमज़ोर होता है आइए हम सबसे पहले अपने तमाम सगीर व कबीरा गुनाहों से सच्ची पक्की तोबा करें और यह आजम करें कि अब आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमें ईमान का तहफ़ अता फरमाए इस दुआ को तीन मरतबा दोहराते हैं या मुकलबलकलूब सबित कलबी على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك गुज्त नशस्तों में बिदात के मौजू पर हमने समात किया था और आखिर में ये बात हुई थी कि बिदत की दो किस्में हैं एक बिदत अमल में पाई जाती है और एक बिदत अकीदे में पाई जाती है लेकिन दर हकीकत बिदत की एक ही किस्म है वो है बुरा अकीदा बुरा अकीदा जो अमल वाली बिदत है वो भी बिदत बनती है बुरे अकीदे की वजह से यानी किसी नाजायज काम को जायज समझकर करना हराम को हलाल समझ के करना नापाक को पाक समझना किसी गैर सुन्नत को सुन्नत समझकर करना तो इससे पता चला कि अमल जो है वो बिदत नहीं होता बल्कि होता यह है कि कोई अमल करे और बंदा अकीदा बना ले तो वो बिदत होता है मसलन शराब पीना जो है ये गुना है लेकिन शराब को पिए और शराब को हलाल जाने तो ये बिदत है तो हम देखें आपने अकीदे की वजह से बिदत बनी इसी तरह गाना सुनना म्यूजिक सुनना ये हराम है लेकिन इस हराम को हलाल समझना जायज समझना और इसकी मन घड़त तावीले करना ये बिदत है इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीफ है दाढ़ी सजाना अब एक शख्स जो है दाढ़ी मुंडा है क्लीन शेव है लेकिन वो ये तासुर देता है कि इस जमाने में सुन्नत ये है कि दाढ़ी मुंडाना सुन्नत है नाउज बिल्लाजाले और इस दाढ़ी का ताल्लुक जो है उस जमाने से था उस जमाने का कल्चर ये था कि जो है दाढ़ी रखी जाती थी अब इस जमाने का कल्चर ये है कि दाढ़ी नहीं रखी जाती तो लिहाजा रसूलुल्लाह की सुन्नत यह है कि दाढ़ी मूंढ दी जाए नाउज बिल्ला हमें तो आपने देखा कि वो एक ऐसी बात कर रहा है कि गैर सुन्नत को सुन्नत साबित कर रहा है तो ये तमाम बातें बिदत कैसे हुई अकीदे की वजह से तो खुलासा कलाम यह हुआ कि बिदत जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम है बुरे अकीदे का किसी हराम को हलाल समझना ना जायज को जायज समझना ना पाक को पाक समझना किसी गुनाह को सवाब समझ के करना किसी गैर सुन्नत को सुन्नत समझ लेना ये सारी जो हैं ये बिदतें हैं इसी तरह जो चीज बिदत नहीं उसको बिदत कहना ये भी बिदत है जो चीज बिदत नहीं उसको बिदत कहना वो भी बिदत है और मुसलमानों पर शिर का इल्ज़ाम लगाना ये भी बिदत है इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने की कोशिश करना और आपके अयूब तलाश करना यह बड़ी खतरनाक बिदत है कि ना साहबा कराम ना ताबईन न तबा ताबईन किसी की आदत नहीं थी वो हजूर की शान ढूंढा करते थे तो हजूर की शान न ढूंढना बल्कि हजूर की बुराइयां ढूंढना ऐप ढूंढना उस जात के अंदर ऐप ढूंढना जिसे अल्लाह ने ऐप से पाक पैदा किया ये बड़ी खतरनाक बिदत है इसी तरह रसूलुल्लाह सल्ला वसलम को बड़े भाई जैसा समझना और ये कहना कि अम्बिया बड़े भाई हैं लिहाजा उनकी ताजीम बड़े भाई जैसी करो बल्कि उसमें भी कमी करो ये एक ऐसी बिदत है कि बड़ी खतरनाक बिदत है जो साहबा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार थे उन्होंने भी ईमान लाने के बाद कभी रिश्ते का जिक्र नहीं किया हजरत अब्बास हजूर के सगे चचा हैं ईमान लाने से पहले कहते थे ए भतीजे लेकिन ईमान लाने के बाद एक मरतबा भी ए भतीजे आपने नहीं कहा हालांकि हजू सल्ला से उनके भतीजे हैं लेकिन नहीं वो इस तरह कलाम करते या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी अंता या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो तो ये आपके चचा का अंदाज तकल्लम था नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ने हजरत अली को फरमाया ए अली मदीना मुनवरा में जब पहुंचे तो आप सल्लाह वसलम ने हर महाजिर को एक अंसार का भाई बना दिया तमाम महाजरीन एक एक अंसार के भाई बन गए हजरत अली अकेले रह गए तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आपने मुझे तो किसी का भाई नहीं बनाया मैं भी तो हिजरत करके आया हूं तो आपने फरमाया ए अली तुम मेरे भाई हो अब जैसे चचाजाद भाई हैं रसूलुल्लाह ने उन्हें भाई कहा लेकिन कभी भी हजरत अली ने ए भाई कहकर नहीं पुकारा या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो ये तकल्लुम था तो हुजूर के मुतालिक ये कहना या अंबिया के मुतालिक ये कहना कि ये बड़े भाई हैं इनकी तज़ीम बड़े भाई जैसी करो इसमें भी कमी करो ये इस ज़माने की सबसे ख़तरनाक बिदत है इसी तरह नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि के इल्म में गैब को न मानना और आपके इल्म की जो शान है उसे ना मानना यह भी बहुत बड़ी बिदत है देखें हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तहो अब हजूर के चचा हैं गजब बदर के मौके पर आप हाजिर हुए और दुश्मन की तरफ से आए थे उस वक्त काफिर थे गिरफ्तार हो गए जंग के बाद तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फिदिया दो अपनी जान का भी फिदिया दो और अपने दो भतीजों का भी फितिया दो तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सोना में लेकर आया था वो आपने ले लिया है उसी को फिदिये में आप कन्वर्ट कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सोना तो तुम मक्के से चले थे हमारी मुखालिफत में लेकर तो ये तो माल गनीमत है ये फिदिया नहीं है फिदिया अलग से दो तो कहने लगे भतीजे क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं मक्के में मक्के में तुम्हारा चचा भीख मांग कर फिरे तुमने ये सोना भी ले लिया मेरा फिदिया भी मैं मुझसे मांगते हो और मेरे दो भतीजों का भी फिदिया मुझ पर लगाते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान जब आप बदर के लिए चले थे तो उस वक्त जो चची को आपने सोना दिया था वो कहा है तो कहने लगे कि वो तो मेरे और तुम्हारी चची के दरमियान राज था तुम्हें किसने बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसने बताया जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा तो इस इल्म गैब की शान को देख कर हजरत अब्बास उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो साहबा कराम जो मुसलमान हुए वो पहले काफिर थे बाद में मुसलमान हुए तो उन्होंने हुजूर के इल्म गैब की शान को मानकर इस्लाम कबूल किया तो वो कभी हुजूर के इल्म गैब पर एतराज नहीं कर सकते ये तो मुनाफिकीन का तरीका है तो हजूर के इल्म के मुतालिक कहना नवूज बिल्लाजालिक हुजूर को यही नहीं पता था कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं नवूज बिल्लाजालिक मेरे साथ क्या किया जाएगा या हजूर के मुतालिक ये कहना कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था या जैसे अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा कि हजूर सल्ला वसलम को जो इल्म गैब है ऐसा इल्म ऐसा इल्म गैब तो जानवरों को भी है ऐसा इल्म गैब तो बच्चों और पागलों को भी है ये सारी बिदतें हैं कभी साहबा कराम या बुजुर्गान दीन ने ऐसी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की इसी तरह बराहन खातिया में खलील अहमद अम्बेठवी ने जो ये बात लिखी कि शैतान पूरी दुनिया को देख भी सकता है पूरी दुनिया के लोगों को जानता भी है और इनके दिलों के राजों को भी वो जानता है मलकुल मौत पूरी दुनिया को देख सकते हैं और मलकुल मौत हर जगह पहुंच भी सकते हैं शैतान की ताकत तो मान ली लेकिन उसने कहा कि रसूल्लाह के मुतालिक ये अकीदा रखना यह दोनों बातें एक साथ चल रही एक ही पैराग्राफ में यह बात है कि शैतान एक है लेकिन पूरी दुनिया को देखता है हर शख्स की गुफ्तगु भी सुनता है हर शख्स के दिल में ख्याल जो आते हैं उसे भी जानता है लेकिन हजूर के मुतालिक ये अकीदा रखना यह शिरक है तो बताइए शैतान का इल्म ज्यादा माना कि नहीं माना और जो शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा माने वो सबसे बड़ा बिदती है और ये सबसे खतरनाक बिदत है तो बिदत जो है वो सबसे यानी इसकी लॉजिक ये हुई कि बुरा अकीदा जो है वो बिदत है कादियानी सारे बिदती हैं जो साहबा कराम के गुस्ताख हैं वो सारे बिदती हैं जो अम्बिया कराम अलिया कराम रसूलुल्लाह के गुस्ताख बेअदब हैं रसूलुल्लाह की शान पर एतराज़ करने वाले वो सारे बिदती हैं जो हजूर सल्ला वसलम की जिसमानी महराज न माने वो भी बिदती है तो ये सारे बदअीदा लोग जो हैं वो दर हकीकत बिदती हैं इसकी दलील ये है कि बदअीदगी ये बिदत है इसकी दलील क्या है इसकी दलील ये है कि हदीस पाक में है और ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है हदीस number one two five two बारह सौ बावन Ibn Majah one two five zero Abu Dawood शरीफ फोर सिक्स वन थ्री और मिशकातुल मसाबी किताबुल ईमान हदीस पाक है यानी हदीस क्या ये रिवायत है और आगे जो है उसके अंदर हदीस का जिक्र भी है अन नाफिन रदी अल्लाह तन हजरत नाफे रदी अल्लाह से रिवायत है अन्न रजुलन अता इब्न उमर एक शख्स अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया अब्दुल्ला बिन उमर कौन हजरत उमर फारूक के बेटे और हदीस के बहुत बड़े मुहदस बहुत बड़े फ़कीर बहुत बड़े मुफसर साहबी अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक शख्स आया फ़कौला फिर उसने कहा इन फुलानन युक्री अलई का सलाम फुला ने आपको सलाम कहा है फुला ने आपको सलाम कहा है फ़कौला तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया इन नहू बलगनी बेशक मुझे ये बात पहुंची है अन्नहू कद अहदसा बात यह पहुंची है कि वो बिदती हो गया है मुझे यह खबर मिली है कि वो बिदती हो गया है यानी जिसने सलाम भेजा उसके मुतालिक कहा मुझे खबर मिली है कि वो फला बिदती हो गया है अब आप बताइए ये कौन सा दौर था ये सहाबा का दौर था और बाद लोग कहते हैं बिदत का आगाज जो है वो चार दौर के बाद होता है कब होता है भाई सहाबा के दौर में कोई बिदत नहीं है ताबईन के दौर में कोई बिदत नहीं तबा ताबईन के दौर में कोई बिदत नहीं तो अगर ये बिदत नहीं तो फिर ये बिदती कैसे हो गया तो साहबा के दौर में भी बिदती थे तो साहबा के दौर में भी बिदत हो सकती है दौर को नहीं देखा जाता काम को देखा जाता है अकीदे को देखा जाता है तो साहबा के दौर में भी कोई अकीदा लोगों में पैदा हो जाए जो कुरान हदीस के खिलाफ हो तो वो बिदत है तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर साहबी रसूल कहते हैं इन्नहू बलगनी अन्नहू कद अहदसा मुझे यह खबर मिली है कि फुला बिदती हो गया फ़ैन काना कद अहदसा तुम मालूम कर लेना अगर वाकई वो बिदती हो गया हो और ये बात सही हो फला तुकरीहू मिन सलाम तो मेरा सलाम उसे ना कहना उसे सलाम का जवाब मेरी तरफ से ना देना और अगर बिदती ना हो तो मेरी तरफ से सलाम का जवाब पहुंचा देना पता चला कि बिदती के सलाम का जवाब नहीं दिया जाता अब ये कौन सा बिदती था वो क्या करता था तो देखें वो अकीदे में बिदती था फ़ैनी समियत रसूल अल्लाह सल्लाह पर बेशक मैंने रसूल्लाह को फरमाते हुए सुना यकूलू यकून फी उम्मती अव फी हाजिल उम्मा खसफुन व मस्कुन अव कल्फुन फी अहलिल कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसलम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तकदीर को नहीं मानेंगे तकदीर का इनकार करेंगे तो वो जमीन में धसा दिए जाएंगे उनकी शक्लें बदल जाएंगी और उन पर पथराव होगा उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी यानी कहने का मकसद ये कि आपने कहा कि वो बिदती हो गया और हदीस आगे कौन से सुनाई कि जो तकदीर का इनकार करे उसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने ये फरमाया मतलब क्या मतलब ये कि वो शख्स बिदती हो गया वो तकदीर का इनकार करता है तो तकदीर का इनकार करना ये कुरान और हदीस के खिलाफ है लिहाजा आपने उसको बिदती कहा पता चला कि बुरा अकीदा हो तो बद अकीदा जो शख्स है वो सबसे बड़ा बिदती है और ऐसे ही बदअकीदा लोगों के मुतालिक फरमाया ऐसे ही बिदतियों के मुतालिक फरमाया इन मरीदू फला तऊदू हम अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत न करो वहीं मातू फला तशहदू हम और मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा न पढ़ो ये हदीस अबू दाऊद शरीफ इबन माजा और मुस्नद इमाम अहमद में है अबू दाऊद हवाला नंबर हदीस number four six nine one four six nine one Ibn Majah हदीस नंबर नाइन्टी टू मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल दूसरी जिल सफ़ा नंबर एटी सिक्स ऐसे ही बदकीदा लोगों के मुतालिक फरमाया मन वक़रा साहिब बिदातिन जिसने बिदाती की ताजीम की फ़कद आना अला हदमिल इस्लाम तो उसने इस्लाम को मिटाने में ताउन किया उसने इस्लाम को मिटाने में ताउन किया उसकी मदद की क्यों जब कोई शख्स कादियानी आगा खानी परवेजी या ऐसे लोग जो हदीस का इनकार करते हैं बुजुर्गान दीन पर एतराज़ करते हैं ये साहबा के भी अदब हैं या रसूलुल्लाह के भी अदब हैं जब उनकी इज्जत व तकरीम करेगा तो वो आगे बढ़ेंगे और उनके साथ ताउन होगा और जब वो नफरत से पेश आएगा तो उनका फितना रुक जाएगा तो खुलासे कलाम ये हुआ कि ये वो लोग हैं कि बिदती हैं बिदती कौन कौन से लोग हैं तो दूसरी हदीस पाक में बड़ी ही प्यारी बात इशाद फरमाई गई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया इन बनी इसराइल तफर्रकत अला इस्नाइन इसनतईन व सबईन मिल्ला बनी इसराइल के बहत्तर फिरके हुए व तफतरीक उम्मती अला सलासी व सबईन मिल्ला और मेरी उम्मत में तिहत्तर फिरके होंगे मेरी उम्मत में तिहत्तर फिरके होंगे लोग कहते हैं जनाब सभी सही हैं सभी सही हैं तो सभी सही हैं ये नतीजा लोग अपनी अकल से निकालते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया तो सभी सही हैं ये भी बिदत है सभी सही हैं ये जुमला कहना क्या है ये भी बिदत है अब मुझे बताएं साहबा कराम का बेअदब और साहबा कराम की ताजीम करने वाला दोनों सही तो नहीं हो सकते एक सही है अलिया कराम की तोहन करने वाला उनके मज़ारात को बमों से उड़ाने वाला और फिर बम से उड़ाकर फिर ये बयान देने वाला देखो अगर इनमें ताकत होती तो बम धमाकर रोक लेते क्या बात है जनाब ताकत का यही मैार बनाया हुआ है तो कल को कोई यहूदी कहेगा कोई काफिर कहेगा कोई जो अल्लाह को नहीं मानता वो कहेगा अगर तुम्हारे अल्लाह में ताकत होती तो मस्जिद अक्सा को रोक लेता मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कैसे कब्जा कर लिया मस्जिदों में बम धमाके होते हैं जब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें जो मस्जिद में नहीं बचा सकता बाहर क्या बचाएगा नवजुबिल्ला अहमद जालिक सुम्मा नवजुबिल्ला अहमद जालिक तो हम ऐसी यानी कैसी बात कर रहे हैं कि यानी ये ताकत का मैार है अल्लाह तबारक वाली ने ढील अता फरमाई है अगर अल्लाह ताला चाहे तो जितने काफिर हैं वो सांस भी ना ले सकें क्योंकि उसकी मसलियत है अम्बिया आलमसलात वसलाम को जो काफिरों ने शहीद किया बनी इसराइल ने एक ही सुबह तैतालीस अम्बिया को शहीद कर दिया तो कोई जो अल्लाह को ना माने वो कहे कि ये तैतालीस अंबिया भेजे किसने अल्लाह ने तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को नहीं बचा सका अल्लाह ताला नऊज बिल्ला हमें जालिक ये बचाना ना बचाना और ये कोई मैार इसका नहीं है ताकत का बल्कि इसमें मसलहतें हैं हमतें हैं इसमें मसलहतें हैं हमतें हैं हकीकत में ये है कि मुकदस मकाम की जो बेहरमती होती है ये हमारे गुनाहों की वजह से होती है सुर बनी इसराइल में है और पहले रुकू में है कि बनी इसराइल ने जब गुना किए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम गुना करोगे तो मैं तुम पर अपना अजाब मुसलत करूंगा तो फरमाया कि जब उन्होंने गुना किया तो अल्लाह का अजाब आया कैसे आया काफिर मुसलत हो गए और वो मस्जिद अक्सा में घुस गए उन्होंने मस्जिद अक्सा को जला दिया उन्होंने मस्जिद अक्सा में तोरेत की बेहरमती की ताबूत सकीना को गंदगी पर डाल दिया तो ना तो ताबूत सकीना की अजमत में कोई फर्क आता है न तोरेत की अजमत में कोई फर्क आ सकता है और ना ही मस्जिद अक्सा की अजमत और, और तोखीर में कोई फर्क आता है हाँ गुनाहों की वजह से ये बनी इसराइल इन बरकतों से महरूम कर दिए गए तो जब हम सुस्ती करेंगे तो काफिर यकीन हम पर गालिब आएगा तो हकीकत ये हमारे गुनाहों की नहूसतें हैं कि आज मस्जिद अक्सा पर बैतुलमक़दस पर काफरों का कब्जा है अल्लाह रब्बुल तो हर चाहत पर कादिर है वो जो चाहे कर सकता है लेकिन दुनिया के अंदर एक आलम इसबाब है ये दुनिया इसमें हमें कोशिशें करनी चाहिए और सुस्ती और गफलतों से बाज आना चाहिए तो यहां पर यह कहना कि जनाब तमाम के तमाम सही हैं जो नबी के गुस्ताख हैं वो भी सही और जो नबी के आशिक हैं वो भी सही जो हुजूर को आखिरी नबी माने वो भी सही और जो हुजूर को आखिरी नबी ना माने वो भी सही कैसे सही हो सकते हैं तो फरमाया कि वह तफ तरीको उम्मती अला सलाती व सबरी मिल्ला मेरी उम्मत के तिहत्तर फिरके होंगे कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा बहत्तर जहन्नमी होंगे सिर्फ एक ही जन्नती होगा तो बहत्तर फिरके बिदती हैं यानी बदअकीदा लोग हैं वो सारे बिदती हैं और एक ही फिरका जो है वो जन्नती है वो नाजी है और वो अहले सुन्नत वाल जमात है क्योंकि दूसरे हदीस पाक में फरमाया कि जब इख्तलाफ देखो तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा गिरोह है उसी को थाम लो क्योंकि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी लोग कहते हैं मज़ारात जो है पाको हिंद में है तो किसने कह दिया कि मज़ारात सिर्फ पाको हिंद में है पाकिस्तान में भी हैं इंडिया में भी हैं बांग्लादेश में भी हैं चाइना तक में हैं रूस की रियासतों में हैं मिस्र में लबनान में इराक में शाम में दुनिया के तकरीबन तमाम जो तमाम ममालिक में मज़ारात बनाए गए और पूरी उम्मत मुस्लिम मज़ारात की तज़ीम और तोर करती है और वहां पर हाजिरी को अपनी शहादत समझती है तो रसोल्ला ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती तो जो ये कहते हैं कि मज़ार की तरफ चल कर जाना ये भी शिरक है और मज़ार बनाना ये भी गुमराही है तो इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत पूरी गुमराही में मुबतला हो गई बल्कि जन्नतुल बकी में भी मज़ारात थे 1927 तक जन्नतुल बकी में मज़ारात रहे हैं तो बताइए जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात बनाए गए जन्नतुल माला में मज़ारात थे सैयद शौदा का मज़ार बना हुआ था 1927 तक और कई सौ साल से बना हुआ था बल्कि जब उन्होंने चाह कि मज़ारात को मिटा दिया जाए तो उन्होंने बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन एक मजार को वो ना मिटा सके हैं ना मिटा सकेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अकदस कि आपके रोज़े के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है इनके नज़दीक गुम्बद बनाना गुमरागी है और सुनहरी जालियां लगाना ये भी गुमराही है और किसी के मज़ार की तरफ चल कर जाना ये शिरक है तो पूरी उम्मत मुस्लिम अब बताइए रसूलुल्लाह के मज़ार अकदस रोज़ा अकदस पर चल कर जाती है कि नहीं जाती है? बल्कि मदीने जाने वाले की तमन्ना यही होती है कि हजूर की बारगाह में सलाम पेश करूं तो हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही में जमा नहीं हो सकती जो सबसे बड़ा गिरोह हो उसी का दामन थाम लेना पूरी दुनिया में मौलू शरीफ मनाया जाता है और इराक में और शाम में तो बड़े ज़ौक व शौक से मनाया जाता है या नबी सलाम आलह पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है तबर्रुकात की तज़ीम और तोक़ीर पूरी दुनिया में की जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिहत्तर फिरके होंगे उनमें से बहत्तर बिदती होंगे जहन्नमी होंगे गुमराह होंगे सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा तो पता ही चला कि जितने बदअीदा लोग हैं सारे के सारे बिदती हैं और वो अहले बिदत हैं लेकिन आपने सुना है चोर मचाए शोर ये जुमला सुना है ना चोर मचाए शोर तो जो खुद बिदती थे उन्होंने दूसरों को बिदती कहना शुरू कर दी जैसे कादियानी है बताइए कादियानी से बढ़कर है कोई बिदती कादियानी अपने आप के अलावा हरेक को लिखते हैं बिदती बिदती खातमुन नबीन का तर्जमा आखिरी नबी करते हैं यानी वो तमाम मुसलमानों को बिदती कहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नत को समझने वाले हैं तो असल में तो बिदती वो है इसी तरह ऐसे लोगों का हाल है कि जो साहबा और अलिया के बेअदब और हैं अब सबसे पहले हम इस मौजू को जिक्र करते हैं कि तमाम बिदतियों में इस वक्त पाकिस्तान में खूस कराची में जिन बिदतियों से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं वो कादियानी हैं कि जिन्हें अहमदी भी कहा जाता है जिन्हें लाहौरी ग्रुप भी कहा जाता है जिन्हें अहमदी ग्रुप भी कहा जाता है जिन्हें जमात अहमदिया भी कहा जाता है ये सारे इन्हीं के नाम हैं लाहौरी ग्रुप ताहिरी ग्रुप जमात अहमदिया अहमदी कादियानी ये सब इन्हीं के नाम हैं ये यूरोप के अंदर अमेरिका में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं अगर इनकी मस्जिद देखें तो मस्जिद की जो अलामत है उनकी मस्जिद में या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा हुआ नहीं होता ये अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में सुन्नियों की मस्जिद की ये अलामत है कि उनके यहाँ या अल्लाह और या रसूलुल्लाह लिखा हुआ होता तो कादियानियों की मस्जिद में सिर्फ ला अला मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है बस उस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं यानी नमाज से मुराद वो जो भी पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल हमारी नमाज की कॉपी होती है किसी चीज में हर चीज वो हमारे जैसे ही करते हैं मुसलमानों जैसा तरीका है इसलिए जब लोग यूरोप में जाते हैं तो उनके दिल में कादियानियों की नफरत तो होती है लेकिन जब वो वहां सुनते हैं कि ये अहमदी हैं तो वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का कोई फिरका है अहमदी अपने आप को वो अहमदी कहते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों का एक फिरका है लेकिन ये बिल्कुल सरातन काफिर हैं और जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है इनका जो बुनियादी मसला है वो ये है इनके चार अकायद बुनियादी हैं और उन चार अकायद में से एक अकीदा इनका बुनियादी है वो अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आखिरी नबी नहीं मानते और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आ सकता है और आ सकता है और फिर कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी नबी बनकर आ गया इनका जो फ्रॉड है वो तीन तरह से है कितनी तरह से है तीन तरह से एक तो ये है कि वो ये कहते हैं कि कभी कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई नया आदमी अगर कादियानियों में फंस जाए तो कादियानी कहते हैं किसने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम नबी तो नहीं मानते उन्होंने कभी नबूबत का दावा ही नहीं किया वो आदमी कहता है बड़ा परेशान हो जाता है यार कैसी बात कर रहे हैं वो कहता है चले हम आपको इनकी किताबें दिखाते हैं वो उनकी किताबें खोल के सामने रख देता है किताबों में रसूलुल्लाह की शान और तारीफें भरी होती हैं हुजूर की नातें हुजूर की शान और फिर नाते और शान का अंदाज ऐसा है कि इकबाल के अशार जामी के अशार बुजुर्गों को सारे अशार वो चोरी करके कादियानी के नाम से वो किताब उन्होंने बनाई हुई है बंदा बड़ा मुतासर होता है भाई मुझे तो कहा गया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और बेअदब हैं लेकिन ये तो इतनी तारीफें कर रहे हैं एक शख्स यहाँ कराची से रबा गया उसने कहा कि मेरे जहन में जो कादियानी का तस्वुर था लेकिन जब मैं गया तो रबा की जो बहुत बड़ी इमारत है उसमें यह हमारी मस्जिद है ना इस मस्जिद से भी बड़ी राइटिंग में यानी इसकी लंबाई जो है इससे भी वो यानी वो कहते हैं बड़ी राइटिंग थी उसमें लिखा था उस इमारत के ऊपर ला इला मोहम्मद रसूल उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरत हुई अरे कलमा तो हमारे जैसा है वो कहते हैं जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर इंटर हुआ तो एक हॉल बना हुआ था जिसमें इस्तबालिया था तो इस्तबालिया के काउंटर पर जाने से पहले मैंने उस हॉल की दीवारें देखी तो मिर्जा गुलाम कादियानी के अल्फाज लिखे हुए थे पूरी दीवारें रसूलुल्लाह की शान से भरी हुई थी हुजूर तो ता हैं यासीन हैं वो तो खातमुल नबीन हैं वो तो खातमुल अंबिया हैं वो खातमुल रसुल हैं वो बड़ा हैरान हो गया मैं उन्होंने तो बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है कि रसूलुल्लाह खातमनबीन हैं खातमुल रसुल हैं खातमुल अम्बिया हैं मैं तो ये तासुर लेकर गया कि वो तो गुस्ताख रसूल हैं तो ये उन्होंने इस तरह तासुर दिया ये असल में मुनाफिक है और मुनाफिकत इसी का नाम है कि पहले किसी को मुतासर किया जाए और फिर उसके जहर में कीड़ा डाला जाए उसके जहन में जहर डाला जाए तो जहन के अंदर जरासीम डालने के लिए पहले उसको मुतासर करना जरूरी है जैसे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि के बेअदब गुस्ताख हैं वो कभी कभी खड़े होकर सलात सलाम भी पढ़ लेते हैं और कभी कभी वो नाते भी पढ़ते हैं और कभी कभी वो इश्के रसूल पर ऐसा बयान कर दे बंदा हैरान रह जाए लेकिन ये सब लोगों को फंसाने के तरीके होते हैं मुतासर करने के असल तो इनकी किताबों में सब लिखा अब अब वो क्या करते हैं किताबें खोल के दिखाते हैं और कहते हैं देखें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तो रसूल्ला की ऐसी शान लिखी और उन्होंने वाज तौर पर लिखा है कि हजूर आखिरी नबी हैं जो हजूर के बाद किसी और को नबी माने वो काफिर है ये लिखा हुआ देखें इनकी किताब में तो बात यह है कि ये जो किताबें हैं ये किताबें ऐलान नबूवत से पहले की हैं उन्नीस सौ एक के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने ऐलान नबूवत किया 1901 से पहले जो किताबें लिखी हैं जब इसने मुख्तलिफ दावे किए और आपको पता है इसके दावे किस तरह के थे दावे इस तरह के थे मैं वली हूं मैं मुजद हूं मैं हजरत ईसा सलाम की तरह हूं मैं इमाम महदी हूं मैं मसील ईसा हूं मैं मसीह मऊद हूं जिस ईसा सलाम के नाजिल होने का वादा किया गया था मैं वही ईसा हूं इस तरह की जब उसने बातें की और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने शोर मचा दिया तो इसने ये देखा कि अभी वक्त नहीं आया तो लोगों को ठंडा करने के लिए किताबों में लिख दिया और ये पंपलेट बांट दी है कि मैं हुजूर को आखिरी नबी मानता हूं और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और जो कहे कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है वो काफिर है ये लोगों को ठंडा करने के लिए उसने इस तरह की किताबें लिखी लेकिन फिर 1901 के अंदर उसने नबूवत का दावा किया अब जब वो नबूवत का दावा करते हैं तो जो समझदार आदमी होता है वो ये कहता है कि मिर्जा कादियानी नबूवत का दावा किया लेकिन इसकी किताबों में तजाद है ये जो किताब आप दिखा रहे हैं इसमें लिखा है कि हुजूर आखिरी नबी हैं और इसमें लिखा है कि मैं नबी हूं तो दोनों में तजाद है तो फिर वो वहां पर तावील करते हैं मनगढ़ंत और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मिर्जा कादियानी जो है वह असली नबी नहीं है वो आर्जी नबी है असली नबी तो हजूर ही है और शरीयत हुजूर ही की है ये तो हुजूर का खलीफा है तो वहां जो लिखा है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता उससे मुराद है कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो नई शरीयत लेकर आए हाँ हुजूर के खलीफा आ सकते हैं जो नबूवत का ऐलान कर सकते हैं इस तरीके से वो लोगों को गुमराह करते हैं तो आप इन दो बातों को समझ लीजिएगा एक बात तो ये कि 1901 से पहले इसने किताबों में लिखा है कि हुजूर आखिरी नबी हैं और 1901 में उसने मतलब ऐलान नबूवत किया है और इसके बाद उसने लिखा है मैं अल्लाह का नबी हूं दूसरी बात यह है कि ये इस तरह तावील करते हैं मन घड़त तावील कि हम नबी तो हुजूर ही को मानते हैं ये मिर्जा कादियानी हजूर का खलीफा है और नबी की हैसियत से है जैसे हजरत हारून हजरत मूसा सलाम के खलीफा थे तो शरीय किसकी चलती थी मूसा सलाम की और हजरत हारून तो उसी शरीयत को पहुंचाने वाले हजूर के खलीफा थे लेकिन ये वार भी इनका फ्रॉड है हकीकत यह है कि इनकी किताबों से यह साबित है कि ये अपने आप को ऐसा नबी मानता है कि नई शरीयत लेकर आया मसलन इसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को फर्ज किया और मैं अब जिहाद को मनसूख करता हूं इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने आप को कौन सा नबी मानता है जो हुजूर की शरीयत को रद्द बदल कर सके मनसूख कर सके दूसरी बात यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु के बाद किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता ना तो असली नबी ना आर्जी नबी ना नई शरीय लेकर आने वाला और ना ही उसी शरीयत को आम करने वाला हाँ हजरत ईसा सलाम जरूर आएंगे और हजरत ईसा सलात वसलाम हजूर सल्लल्लाहु वसलम ही की शरीय को आम करेंगे फिर सवाल वो कादियानी हमसे ये करते हैं कि तुम तो ये कहते हो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता फिर ईसा सलाम कैसे आएंगे तो देखें हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता तो ईसा सलाम हजूर के बाद के नबी हैं या हजूर से पहले के नबी हैं हुजूर के पहले के नबी हैं तो जो एक लाख चौबीस हजार नबी हैं कमोबेश ये तो आते रहते हैं हजरत इलियास और हजरत खिजर हज करते हैं और हज में लोगों से मुलाकात करते हैं और खुशकी और तरी में लोगों की मदद करते हैं तो नबी का आना जो पुराने नबी हैं जो आ चुके हैं वही नबी फिर आ जाए तो इसमें हरज नहीं बात है नए नबी की तो नया कोई नबी नहीं आएगा तो अब चूंकि इनका दावा यह था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि के बाद मैं अल्लाह का नबी हूं तो इस दावे को साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया हदीसों में मन घड़त तावीले की अब उनका वार का तरीका समझ लें सबसे पहले उन्होंने एक किताब लिखी यानी मिर्जा गुलाम कादियानी इस मरदूद ने एक किताब लिखी उस किताब का नाम रखा फतेह इस्लाम उस किताब में उसने ये दावा किया कि हजरत ईसा सलाम वफात पा चुके हैं और ये जो मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा सलाम बगैर वफात हुए जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए ये अकीदा गलत है सबसे पहले उसने ये दावा किया फिर इस दावे को लिखा कैसे लिखा ऐसे कि देखो ए मुसलमानों अगर तुम ईसाइयों के सामने ये बात कहोगे कि ईसा सलाम जिंदा हैं और हमारे नबी वफात पा गए तो ईसाई कहेंगे कि फिर तुम जिंदा नबी की जो पैरवी करो वफात याफ्ता नबी को क्यों मानते हो और फिर इस तरह तो ईसा आल सलाम अफजल हो जाएंगे ये इसने प्रोपेगेंडा क्यों किया ताकि किताब पढ़ने वाला ये समझे कि ये बेचारा हुजूर की मोहब्बत में ऐसी बातें कर रहा लेकिन असल लोगों को पता नहीं था कि ये जा कहाँ रहा अभी इसने ऐलान नबूवत नहीं किया था लेकिन ऐलान नबूवत इसके प्लानिंग में था तो इसने पहले ऐसी बातें कही ओलामा ने इसका जवाब दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है वो एक आन के लिए है और कुल्लु नफसिन जायकतुल मौत के तहत अल्लाह ने एक आन के लिए आपको मौत का मजा चखाया और फिर अल्लाह ने जो आपको जिंदगी अता फरमाई है वो तमाम की जिंदगी से अफजल व आला है दूसरी बात अगर ईसा सलाम की वफात नहीं हुई और हुजूर की वफात हो गई यानी हुजूर को एक लम्हे के लिए मौत का मजा चखा दिया गया और ईसा सलाम ने मौत का मजा नहीं चखा अगर कोई मौत का मजा किसी ने ना चखा हो और वो इस वजह से अफजल हो जाता हो तो फिर सारे फरिश्ते हुजूर से अफजल हो गए कि किसी फरिश्ते ने अभी तक मौत का मजा नहीं चखा जन्नत की हूरें और गिलमान अफजल हो गए कि जन्नत की हूरें और गिलमान ने ना मौत का मजा अभी चखा है ना बाद में चखेंगे फिर उसने कहा कि तुम्हारा यह अकीदा कि ईसा सलाम आसमान पर है तो ईसा आल सलाम ऊपर और हजूर नीचे तो इस तरह तो ईसाई ईसा सलाम की फजीलत साबित करेंगे तो बताइए ईसा सलाम तो दूसरे आसमान पर या चौथे आसमान पर हैं वो फरिश्ते कि जो सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे हैं वो अफजल हैं कि हुजूर अफजल हैं बताइए जोर से कहें तो वो फरिश्ते जो ऊपर हैं और अर्श के वो अर्श को थामे हुए हैं इतना ऊपर होने के बावजूद वो अफजल नहीं रसूलुल्लाह अफजल है तो ईसा सलाम अगर दूसरे और चौथे आसमान पर हों तो इससे उनकी अफजलियत साबित तो नहीं होती लेकिन ये इसका फ्रॉड था ड्रामा था कि मुसलमानों की हमदर्दियां लेने के लिए कि मैं तो ईसाइयों से मुनाजरा करने के लिए उन्हें शिकस्त देने के लिए मैं मुसलमानों का नुमाइंदा बन रहा हूं फिर इसने क्या किया ईसा सलाम के सारे मौजाद का इनकार कर दिया कहा कि ईसा सलाम जो मौजाद करते थे हजूर से वो मौजाद साबित नहीं है लिहाजा ईसा आसम अफजल हो जाएंगे तो मैं ईसा आसम के मौजाद को नहीं मानता और उसे जादू का एक करतब मिस मरीजम से उसने तशबी दी फिर ईसा आसमाम की तोहन और गुस्ताखियां की और ये कहने लगा कि ईसा आसमाम को नबी मानना हमारी मजबूरी है कि कुरान ने कह दिया वरना ईसा आसमाम कहीं से भी नबी साबित नहीं होते नवजुबिल्ला ये सारी उसने बकवासात की हैं और वफात मसीह का अकीदत ये फिर वफात मसीह के बाद सवाल यह पैदा होता है कि फिर रसूल्ला ने जो फरमाया कि नजला ई बिन मरियम कुर्ब क़यामत में ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे तो जब वो वफात पा गए तो नाजिल कैसे होंगे तो इसने नजला का तर्जमा किया वलदा बोला नजला का मतलब है नाजिल होंगे मतलब पैदा होंगे और ईसा ई सबनु मरियम के आगे लगा दिया मसील कहने लगा मतलब यह है बुखारी की जो हदीस है कि ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे उतरेंगे तो इसने कहा इसका मतलब यह है ईसा बिन मरियम जैसा पैदा होगा मसीले ईसा मसीले ईसा आएगा फिर इसने कहा कि जिस ईसा का वादा किया गया मसीह मऊद मसीह मऊद किसे कहते हैं मऊद मीम वाओ आइन वाओ दाल मऊद जिसका वादा किया गया तो कहा जिस मसीह मऊद का वादा किया गया जो ईसा बिन मरियम जैसा होगा वो मैं हूं और फिर इसने मसीह मऊद का दावा किया किसका दावा किया मसीह मऊद का दावा किया आला हजरत इमाम अल सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात लिखी आपने लिखा कि कादियानी हमसे ये कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह का नबी है नाउज बिल्लाजाल आला हजरत ने फरमाया ये तो मुसलमान भी साबित नहीं होता इसने जो अम्बिया की तोहन और बेदबियां और की हैं इसका तो मुसलमान होना ही साबित नहीं होता और तुम नबी को रोते हो यह तो काफिर और मुर्तद है तुम इसे पहले मुसलमान तो साबित करो फिर आगे बात करना हजूर के बाद तो कोई नबी नहीं आ सकता तो इसने हजरत ईसा सलाम की बड़ी गुस्ताखियां की मसलन ये सारे हवाले मेरे पास मौजूद हैं और कोई भी बात हवाई फजाई नहीं है सब उसकी किताबों में आज भी मौजूद है अस्सी से जायद उसकी किताबें हैं और उन तमाम अस्सी से जायद किताबों को उन्होंने जमा किया है और रूहानी खजाइन के नाम से वो तीस जल्दों में आजकल मिलती हैं तो उसने लिखा कि हजरत ईसा सलाम की तीन दादियां वो जानिया थी अब बताइए दादी किसको कहते हैं किसको कहते हैं बाप की माँ को तो ईसा सलाम तो बिन बाप के पैदा हुए लेकिन ये खबीस जो है हजरत ईसा सलाम को बिन बाप के नहीं मानता इसने कहा कि तीन दादियां जानिया थी तीन नानियां जानिया थी और नवूज बिल्ला ईसा सलाम के लिए भी ऐसे ही गंदे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए और इतनी गंदगी है इतनी गंदगी है कि किसी के सामने बयान करना तो दूर की बात है इसे आप और हमारे जैसा गुनागार तो पढ़ भी नहीं सकता जिसके दिल में नबी की जरा सी मोहब्बत हो वो ये तहरीर पढ़ नहीं सकता अब मैं क्या अर्ज करूं आप अंदाजा लगाएं कि इसकी बातों का जो मफहम निकलता है वो ये है बस अब क्या अर्ज करें यानी दिल कांप जाता है कि जानिया औरत से ईसा सलाम जो है वो मालिश कराया करते थे तेल लगाया करते थे और ऐसी ऐसी गंदी गंदी गलीस गालियां लिखी हैं कि मैं समझता हूं कि कोई काफिर भी नहीं लिख सकता जो एक नबी की तोहन करे वो सारे नबियों का गुस्ताख और काफिर है तो इसके काफिर होने में कोई शक नहीं इसने फिर इस तरह हजरत ईसा सलाम की तोहिने की आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही अला हजरत ने फरमाया कि जिस ईसा को हम मानते हैं उनको तुम तो नहीं मानते हम तो जिस ईसा को मानते हैं वो बिन बाप के पैदा हुए हैं उनकी मां ऐसी पाक हैं जिनकी पाकी की गवाही कुरान ने दी और वो इतने पाक हैं कि जिनकी पाके की गवाही कुरान ने दी वो ईशा सलात वसलाम जिनके ये मुआजात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया और वो करीब जो कुर्ब क्यामत में नाजिल होंगे और चालीस साल इस दुनिया में रहेंगे हम तो इसे ईसा मानते हैं और तुम जिसे ईसा मान रहे हो ये तुम्हारा अजीब गरीब नजरिया है तो आला हजरत इमाम अल सुन्नत ने यह सवाल उठाया कि तुम कहते हो कि मैं मसील ईसा हूं क्या हूं मसील ईसा हूं तो ईसा सलाम की तो तुमने इतनी गुस्ताखियां की हैं ईसा सलाम तो ऐसे नहीं थे तुम ऐसे ही थे कि तुमने अपने जैसा ईसा सलाम को समझा हुआ है मतलब यह होगा तुम्हारी दादियां और तुम्हारी तीन नानियां जानिया होंगी और तू बदकारी करता रहा और शराब पीता रहा तो तू ऐसा होगा और ईसा सलाम को अपने जैसा और अपने को ईसा सलाम जैसा समझ रहा तो इन्होंने हदीस से मनगरत तावीले की फिर कहा मैं मसीह मऊद हूं मसीह मऊद हूं तो फिर इसने नबूत का दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूं और मैं नबी हूं फिर कहा मुझ पर वही आती है इस तरीके से यह आहिस्ता आहिस्ता ऐलान नबूत की तरफ बढ़ा अब सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि ईसा सलात वसलाम जब आएंगे तो इमाम महदी वहां पर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए लोग जमा होंगे और फजर की जमात होने वाली होगी कि मुल्क शाम में हजरत ईसा सलाम का नजूल होगा हदीस बाग में तो इसने इन हदीसों को रद्द करने के लिए ये कहा कि ये सारी हदीसें गलत हैं इसलिए कि ईसा और इमाम महदी एक ही जात का नाम है मसीह मऊद और इमाम महदी एक ही चीज है तो इसने इमाम महदी का इनकार कर दिया ये अपने आप को इमाम महदी भी कहता है मसीह मऊद भी कहता है इमाम महदी को अलग शख्सियत नहीं तो इमाम महदी का इसने किस तरह इनकार किया कि मसीह मऊद जिस ईसा बिन मरियम के उतरने का वादा किया गया वो और इमाम मेहदी दोनों एक ही चीज है अब तीसरी रुकावट इसके सामने थी दज्जाल का फितना कि हजूर ने फरमाया कि दज्जाल ऐसा होगा और वह चालीस दिन में वो गश्त करेगा और सारे मामला फिर ईसा सलाम उसे कत्ल करेंगे तो इसने कहा कि दज्जाल से मुराद जो है मगरबी कौमें हैं कुफार हैं दज्जाल को एक शख्स नहीं है और ईसा सलाम उसे कत्ल करेंगे मतलब ये है कि मैं जो हूं मैं मैं इन मगरबी कौमों से मुनाजरा करूंगा ये उसने तावील की अब उससे पूछा कि फिर याजूज माजूज को क्या करेंगे तो कहने लगा याजूज माजूज भी काफिर ही हैं तो ये काफिर जितनी कौमें हैं ये याजूज माजूज और दज्जाल है यानी दज्जाल और याजूज माजूज इसके नजीर एक ही चीज है और इसकी इसने मन घड़त तावील कर ली तो आपने देखा कि हर चीज को यानी जो हदीस भी इसकी राह में रुकावट आती है उस हदीस के माना बदलकर उसका गलत मफहम बताकर वो आगे निकल जाता है इन तमाम तर खुराफात करने के बाद फिर भी मसला यह रहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं और कुरान ने फरमाया वख़ातमन नबी ये ये आखिरी नबी हैं तो इसने कहा कि यहां ख़ातम से मुराद जो है स्टैंप है स्टैंप स्टैंप का मतलब यह है कि कोई पर्चा हो और उस पर्चे पर गवर्नमेंट की स्टैंप न लगी हो तो उस पर्चे की कोई हैसियत नहीं होती तो मतलब ये कि हुजूर खातमुन नबीन है जितने भी नबी आए उनकी पुष्ट पर हुजूर की स्टैंप लगी हुई थी तो जिस पर हुजूर की स्टैंप लग जाए तो वो नबी है खातमुन नबीन का मतलब आखिरी नबी नहीं बल्कि हुजूर स्टैंप लगाने वाले हैं तो मैं हुजूर के बाद भी आ गया हुजूर ने मुझ पर स्टैंप लगाई हुई है यानी ये एक इसने एक नया माना किया जो 1400 साल में किसी ने यह माना नहीं किया था और इसी को कहते हैं बिदत इसने एक बिदती माना कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की रोशनी में यानी गलत माना किया तो ख़ातम नबी इनका तर्जमा वो क्या करते हैं हजूर क्या है स्टैंप है तो वो जिस पर मोहर लगा दें तो वो नबी बन जाता है और मुझ पर भी मोहर लगा दी तो मैं नबी बन गया हुजूर से पहले भी नबी आ सकते हैं हुजूर के बाद भी आ सकते हैं लेकिन 200 से जायद हदीसें कितनी हदीसें हैं दो सौ से जायद हदीसें हैं कि जिसमें वाज तौर पर कहा गया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तो वो हदीसें जो हैं वो कुरान की शायद की तशरी करती हैं तो ये जो है इन हदीसों को भी नहीं मानता और दो सौ हदीसों का सरी इनकार करता है और कहता है ये मन गढ़त हदीसें हैं क्योंकि ये सारी हदीसें उसकी राह में रुकावट बनती हैं देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया एक दो हदीसें समाप्त कर लें इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को तीन दफ़ा तीन अलग अलग सनदों से लिखा समेत रसूल सल्ला वफ़ी हदीस उकील कौल क़ुलतुलजहरी वमल आकिब पूछा कि आकिब किसे कहते हैं हुजूर का एक लकब है आकिब आकब के क्या माना है कौल अल्लदी लई सबादहू नबी आकिब उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी ना हो दूसरी हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया لا नबी यबादी वला उम्मत बादा उम्मती मेरे बाद कोई नबी नहीं और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं कुन तो नबी यी न फिलखलकी व आखिर फिलबासी मैं पैदाइश के एतबार से पहला नबी हूँ और आने के एतबार से आखिरी नबी हूं इसी तरह फरमाया माँ तबह सगीर हजरत इब्राहिम जो हजूर के साहबजादे थे उनका इंतकाल हो गया छोटी उम्र में वलो खुद यकून अबाद मोहम्मद नबी ला शबन हो वला के ला नबी बाद हो तो कहा कि हजूर सल्लल्लाहु वसलम के बेटे जिंदा क्यों ना रहे और वो बालिग होने से पहले पहले इंतकाल क्यों कर गए कहा कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी का आना मुमकिन होता तो हुजूर के साहिबजादे जिंदा रहते और वो सारे नबी बनते वो सारे नबी बनते लेकिन चूंकि हुजूर के बाद कोई नबी आ नहीं सकता इसलिए आपके तमाम साहिबजादे का विशाल जो है वो बचपन में हो गया इसी तरह फरमाया हजरत अली से रसूलुल्लाह ने जब रसूलुल्लाह गजब तबूक में जा रहे थे तो हजरत अली को आपने मदीना मनवरा में आपने कायम किया और फरमाया तुम मदीने में रहो और हम गजब तबूक पर जाते हैं तो हजरत अली ने अर्ज की कि यार रसोल्ला सल्लल्लाहु वसलम सब जिहाद पर जा रहे हैं बच्चे रह गए औरतें रह गई तो मुझे आप औरतों और बच्चों में छोड़कर जाते हैं और मैं जिहाद से महरूम रहूंगा तो आपने फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलती हारून मिन मूसा क्या तुम मेरे साथ इस पर राजी नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे हो जाओ जैसे हारून मूसा के साथ थे कि मूसा सलाम जब कहीं जाते तो अपनी कौम के पास हजरत हारून को छोड़ के जाते अगर हदीस यहां तक होती तो सुनने वाला क्या कह देता कि देखें हजरत हारून भी अल्लाह के नबी थे मूसा सलाम भी अल्लाह के नबी हैं तो हजरत अली जो हैं वो हारून की तरह हुए तो वो भी नबी हुए गैर अन्ना नबी आबादी लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम नबी नहीं हो क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु वसलम ने हजरत उमर के मुतालिक फरमाया लव काना नबी बादी लकाना उमर रबन खत्ताब मेरे पास कोई नबी नहीं अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते जहाबत नबूबतों नबूवत खत्म हो गई अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी व बकीतिल मुबशरात हाँ बिशारतें बाकी हैं और अच्छा ख्वाब मोमिन के लिए बिशारत है ला तकूम उसात हत्ता या खरूज सलासून कज्जाबन कुल्लुम यज अम नबी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तीस कज्जाब पैदा ना हो जाए कज्जाब के माना बहुत बड़े झूठे ये वो होंगे जो नबी का दावा करेंगे और मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो हजूर के बाद कोई नबी नहीं वाज हदीसों में है कि जो नबी का दावा करेगा नबी होने का दावा करेगा वो कज्जाब होगा तो मिर्जा गुलाम कादियानी के कज्जाब झूठे लानती मलून होने में कोई शक नहीं है लेकिन बीस लाख से जायद इसके मानने वाले आज दुनिया में मौजूद हैं इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम से जो वेबसाइट मौजूद हैं वो कादियानियों की हैं सबसे ज्यादा कुरान और बुखारी और मुस्लिम का तर्जमा मुख्तलिफ जबानों में कादियानियों ने किया है यानी बुखारी और मुस्लिम का तर्जमा दूसरे लोगों ने भी किया मुसलमानों ने किया लेकिन सबसे ज्यादा यानी कुरान का तर्जमा सबसे ज्यादा मुख्तलिफ जबानों में कादियानियों ने किया अहादी से तैयबा का तर्जमा मुख्तलिफ जबानों में कादियानियों ने किया यूरोप के अंदर इस वक्त जो बड़ी तेजी के साथ काफिर मुसलमान हो रहे हैं तो उनमें बहुत बड़ी तादाद है कि वो मुसलमान नहीं हो रहे बल्कि कादियानी बन रहे हैं तो कादियानी अपनी कादियानियत फैलाने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं बस इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग गाफिल हैं हम रात को गफलत के साथ सो जाते हैं सुबह उठते हैं तो हमें अपनी दुनिया की फिक्र होती है और इनका यह हाल है कि मैं कोई हवाई फजाई बातें नहीं कर रहा जो साहब गए हैं रबवा वो अंदर का निज़ाम देख कर आए हैं और पूरा निज़ाम उन्होंने देखा उन्होंने बताया कि ये बात साबित है कि कादियानी में हर फैमिली के अंदर एक बच्चे को कादियानी अपने बातिल दीन के लिए वक्फ कर देते हैं हर फैमिली में एक इनका खबीस होता है जिसे वो आलिम कहते हैं मुरबी कहते हैं लेकिन आज बताइए गुलाम है गुलाम नबी के गुलाम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ये नारा लगाने वालों के घरों में पूरे घर में तो क्या पूरे खानदान में एक आलिम नहीं मिलेगा आपको क्यों हमें ओलमा से मोहब्बत ज़रूर है हम उनसे दम कराते हैं उनसे तावीज़ लेते हैं उनसे दुआएं लेते हैं हम सब कुछ करते हैं हम मदरसा आए तो उसको ताज़ीम से देखते हैं सुबहान अल्लाह बड़ी मदरसे की इमारत बनी हुई है लेकिन अपने बच्चे को हम मदरसे में दाखिल कराएं अपने बच्चे को हम आलिम दीन बनाएं ये हमारी सोच नहीं बनती हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं इंजीनियर बनाना चाहते हैं दुनियावी तालीम से इनकार नहीं है लेकिन कम अज कम हमारे हर एक घर में अगर चार बच्चे हैं तो एक बच्चा तो आलिम दीन जरूर बनना चाहिए ये बच्चा हम हमारे ईमान का तहफुज करेगा हमारी नस्लों के ईमान की तहफ़ करेगा जब घर का खानदान का फर्द होगा तो किसी को गुमराह नहीं होने देगा वो बचाएगा और जो गुमराह हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं लेकिन जो गुमराही से बचे हुए हैं उनका वो तहफुज करेगा तो आइए हम इस मुबारक नशिश में नीयत करें कि हमारे घर का कम अज कम एक बच्चा इंशाला अमीर हमजा इस्लामिक कॉलेज में जरूर दाखिला लेगा और एक बच्चा क्यों इन तला हमारे घर का हर बच्चा अल्लाह के करम से और उसके महबूब की रहमतों से इन आलिम दीन ज़रूर बनेगा क्योंकि वहां तो अमीर हमजा इस्लामिक कॉलेज में आलिम दीन के कोर्स के साथ साथ दुनियावी तालीम भी है तो दुनियावी डिग्री का मसला भी हल हो जाता है और हमारा बच्चा आलिम दीन भी बन जाए बस सिर्फ फ़र्क यह है कि उसमें मेट्रिक पास जो है तालब इन को लेते हैं तो आप देख लें कि आपके ख़ानदान में जो बच्चे मैट्रिक का इम्तहान उन्होंने इस साल दिया है आप उन्हें दाखिल कराने की कोशिश करें ये गफलतें अगर हमारी रहें तो याद रखिए बड़ी तेजी के साथ बदअीदगी फैलती जा रही है कादियानी परवेजी आगा खानी बोहरी इसी तरह रसूल्ला के गुस्ताख साहबा के गुस्ताख अलिया के गुस्ताख बड़ी तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं टी वी पर देखें तो फाशी उरियानी के साथ साथ बदअीदगी बड़ी तेजी से फैल रही है और हमारा हाल यह है कि हम गफलत में पड़े हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें हाजिर होना है और हुजूर की हम शफात के मुतमनी होंगे बताइए क्या मुंह दिखाएंगे कि अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत को भेड़िए खा रहे थे और तुम गफलत में और अपनी दुनिया में पड़े हुए थे अल्लाह ताला हमें ख्वाब गफलत से बेदार फरमाए और इसके लिए हमें जिद्दोजहद और कोशिश करने की तोफ़ी अता फरमाए ये नशिस्तें बड़ी अहम हैं न जाने फिर हमें ये शहादत मिले या न मिले अब दिल ये चाहता है कि नशिस्तें जारी रहें लेकिन रमज़ान मुबारक आ जाएगा और दो नशिस्तें हमारी बाकी हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद जो है अगर तड़प रखेंगे तो यही कि दो नशिस्तें बढ़ा सकते हैं तो हमने ये नीयत की है यकीन आप खुशी होंगे आपके लिए खुशखबरी है कि इन शजल अब हमारी दो नशिस्तें नहीं बल्कि चार नशिस्तें होंगी इन अजल तो आप दो नशस्तों का ऐलान न करें बल्कि चार नशिस्तों का ऐलान करें इन ये चार नशिस्तें होंगी अब रमज़ान मुबारक से पहले पहले चार ही हो सकती हैं हम इन चार नशिस्तों में भरपूर दावत दें क्योंकि अब हमारा जो मौजू है वो बहुत अहम है कि अहल बिदत कौन कौन से लोग हैं बिदती कौन है यानी बदअीदा लोग कौन कौन से हैं उनके खराफात क्या हैं और आज हमने कादियानियों के मुतालिक चंद बातें समाप्त की ये कादियानियों का मौजू इतना वसी है और इसके ऊपर इतनी ज़रूरत है बोलने की कि अगर दस नशिस्तें हों वो भी कम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपके दिल के अंदर तड़प और जज्बा बैदार करने की कोशिश थी कि हम ये देखें कि वो जहरीला सांप किस कदर काम कर रहा है कि पूरी दुनिया में इनके हजारों मुरबी हैं जिनको मुरबी कहते हैं आलिम कहते हैं हजारों की तादाद में है और इनकी कौम उनकी सारी जिम्मेदारी कबूल करती है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ कादियानियत फैलाना है इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है वो पूरी दुनिया में कादियानियत फैलाने पर लगे हुए हैं अल्लाह तबारक वाली हमें भी दुश्मन का सही तौर पर मुकाबला करने की तोफ़ी अता फरमा